्यायन्तु मम न प्राणश्च श्रोस्तोत्रमथोकल्मियाणि च सर्वाणि सर्वम् ब्रह्मोपनिषदम् माम् ब्रह्मय छाउंड परिषद प्रथम अध्याय के ष्ठ खंड के चतुर्थ मंत्र तक कुछ विचार हुआ था जिसमें कुछ अंगोपासना बताई जा रही है आगे मुख्य उपासना आगे कहेंगे अध्यायवत में कहेंगे आदित्य मंडलस्थ पुरुष की उपासना और अध्यात्म में कहेंगे चक्षुष्ठ पुरुष की उपासना ये दो पुरुष की उपासना बताएंगे माने आदित्य मंडल के भीतर में जो पुरुष है परमात्मा है और चक्षु के भीतर में जो पुरुष है वो परमात्मा है अद्यवत में आदित्य मंडलस्थ पुरुष और अध्यात्म में चक्षुष्ट पुरुष की उपासना बताना है मुख्य उपासना वो होंगी इसके लिए कुछ अंग उपासना बताई जा रही है <clears throat> यमे वरिक इत्यादि कहा था इम शब्द से प्रसिद्ध होता है इदम शब्द सन्निकृष्ट का वाचक होता है प्रसिद्ध का वाचक होता है इदम वस्तु सन्निकृष्ट में समीप में धरती पृथ्वी है इसलिए यम शब्द का अर्थ पृथ्वी यही रीत है माने ऋग वेद में पृथ्वी दृष्टि करना और साम वेद में अग्नि दृष्टि करना अग्नि साम इत्यादि बोला है <clears throat> इत्यादि उपासना बताई जा रही थी कुछ अंगोपासना हो गई आगे और भी कुछ अंगोपासना बाकी है उसको बतलाना है आगे मंत्र है पंचम मंत्र अथ यदेतद आदित्य शुक्लम्भः सा अथ यन्नीलम् पर कृष्ण तत्सामः तदेतद् एतस्यां रुचि अध्यूढम् सामः साम गीयते अथ यदेतद् आदित्यस्य शुक्लम्भः सायवरिक् यन्नीलम् परः कृष्णम् तत्सामा तदेतदेस्तस्यामृति साम सामा तस्मादृति साम सामगीयते प्रकारांतर से वही अंगोपासना है मुख्य उपासना आगे कहेंगे अथ अनंतर यद एतत् आदित्य से शुक्लम भा आदित्य में जो शुक्ल रूप है भाव प्रकाश भादित धातु है भाव प्रकाश शुक्ल रूप है साहेब ऋग वही ऋग है जो आदित्य मंडल में जो शुक्ल प्रवाह है सफेद प्रकाश है वो ऋग है माने उस ऋग्वेद में शुक्ल दृष्टि करना आदित्य की शुक्ल प्रवाह दृष्टि करना और यह नीलम पर कृष्ण जो अत्यंत काला है आदित्य में पर कृष्णम अत्यंत श्याम है नीला है काला है तत्श्याम उसमें उसको शाम समझना माने शाम वेद में कालापना की दृष्टि करना तदेत एतश्याम विजय अध्युनम श्याम उस शुक्ल में काला आश्रित है मैंने ऋग्वेद में शाम वेद आश्रित है इसी प्रकार तस्मात ऋषि अद्भुतम साम के इसलिए आजकल भी आज के लोग भी ऋग्वेद में आश्रित शाम का गान करते हैं ये कहा ठीक है हमें कहते हैं अंगोपासना कांक्षित होता कुछ अंगोपासना हो गई है ये में वृक अग्नि श्याम इत्यादि वाक्यों से कहा कुछ अंगोपासना का विधान हो गया तादृग एवं उपासनांतरम उसी प्रकार का अंगोपासना ही है अन्य प्रकार की उपासना अंगोपासना का कहते हैं ये अथ इत्यादि वासी में कहा अथ यदेत आदित्य शुक्लम्भा जो आदित्य में शुक्ल प्रकाश है अनेक शुक्ला दीप्ति ही शुक्ल जो दीप्ति माने प्रकाश साय ऋग उसी का ऋग समझ माने ऋग ऋग में वो दृष्टि करना शुक्ल दृष्टि करना अथ यह आदित्य नीलम पर कृष्णम जो आदित्य में अत्यंत श्यामता है अत्यंत कालापना बना है अतिशयन कार्षणम पर अतिशय कार्षण कृष्ण कृष्ण पर है कृष्णता है तत्साम वो साम है तभी एकांत समाहित दृष्टि दृष्टि कहते हैं आदित्य में शुक्ल प्रकाश तो सभी देखते हैं ठीक है किंतु काला प्रकाश कहाँ दिखाई पड़ता है कौन देखता है काला आदित्य में काला होता है कहते हैं तद ही एकांत समाहित दृष्टि दृश्य थे जिसके एकाग्र बुद्धि हो गई अंतकरण एकाग्र हो गया समाहित हो गया है ऐसे लोगों के द्वारा देखा जाता है आदित्य में काला भी दिखाई पड़ता है तभी जो कृष्ण तम है आदित्य में एकांत समाहित दृष्टि का एकाग्र हो गया मन जिसका बाह्य विषयों से निवृत्त हो गया मन जिसका अंतर्मुखी वृत्ति में है एकाग्र वृत्ति वाला दृष्टि वाले से दिखाई पड़ता है टीका में कहते हैं आदित्य से मंडलात्मना आदित्य शब्द का अर्थ यहां पर क्या है आदित्य और प्रकाश में वैसे अभेद होता है जो प्रकाश के पुंज को ही आदित्य बोलते हैं किंतु यह आदित्य शब्द का अर्थ मंडल लेना जो रोटी जैसा लगता है मंडल आदित्य मंडल को लेना आदित्य शब्द का था बाहर का देखा आदित्य से मंडलात्मना जो मंडला मंडल स्वरूप है जो आदित्य उसका यद रूपम शुक्लम दृश्य दे जो शुक्ल रूप उसमें जो दिखाई पड़ता है ऋचि तदृष्टि कर्तव्य इसलिए कहा ऋग्वेद में वो दृष्टि करना ऋग मंत्र के उच्चारण काल में आदित्य दृष्टि करना शुक्ल रूप दृष्टि करना एक कहा तदेव रूपम विष्णष्टि वो रूप का ही विशेषण करते हैं शुक्ल रूप का ही क्या है भाव बोल दिया शुक्ल शब्द का अर्थ भाव प्रकाश है वो तामेव व्याचे भाव ने क्या है फिर उसकी व्याख्या करते हैं भाव की भाव शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए उसकी व्याख्या हाँ। क्या क्या शुक्ला दीप्ति बोला सफेद प्रकाश वह जो दिखाई पड़ता है कहा शुक्ला दीप्ति ही शैव इत्यादि कहा था ठीक है रिचि यथा पूर्वोक्त रूप दृष्टि तथा सामनी बक्षमाण रूप दृष्टि अनुच्छेद कहते ऋग्वेद में जैसे पूर्वोक्त रूप क्या था शुक्ल प्रभा दृष्टि करना था आदित्य के जो शुक्ल प्रभा दृष्टि करनी ऋग मंत्र में तथा उसी प्रकार साम मंत्र में बक्षमाण रूप बक्षमाण क्या है कृष्ण ये कहा अथा आदित्य नीलम पर कृष्ण इत्यादि कहा था काला बना दृष्टि अनुष्ठेय का अथ इत्यादि भाषण में कहा था अथ आदित्य नीलम पर कृष्णम परो अतिशय काष्टम तत्साम आदित्य में जो कालापना है वो साम है इत्यादि कहा कहते हैं ननु आदित्य सौक्लवत अनतिशयम काष्टम न अस्माभिर अनुभूयते तत्र प्रश्न होता है जैसे आदित्य मंडल में शौक्ले का अनुभव हमारे द्वारा होता है शुक्लपना तो दिखाई पड़ता है सफेद दिखाई देता है अनुभव होता है किंतु जो काष्ट है अनक्षय कार्य न विद्यते अभिषय अस्मात से अनक्षय जिससे पर अत्यंत काला अत्यंत कालापना वो तो हमारे द्वारा अनुभव में नहीं होता ये शंका हो गई एक शंका है तब उत्तर देते हैं तद भी एकांत समाहित दृष्टि दृश्यते सामान्य जनों की दृष्टि से नहीं हाँ माने व्यवहित व्यवधान वाला दृष्टि नहीं निरंतर जो एकांत दृष्टि हो गई समाहित दृष्टि हो गई अंतर्मुखी दृष्टि हो गई उनके द्वारा दिखाई पड़ता है ये अर्थ करते एकांत न समाहिता एकाग्रता से जो समाहित हो गया चित्त जिसका एकांत न समाहिता शास्त्र संस्कृता शास्त्रों के द्वारा संस्कृत जिसके अंतकर्म है यश्य दृष्टि जिसकी दृष्टि ऐसी बन गई माने शास्त्रीय दृष्टि से जाना जाता है वो ये चक्षु के नहीं देखा जाता शास्त्रीय शास्त्र पढ़ते पढ़ते ऐसा ज्ञान होता है और काला बना दिया जाता तो एका एकांत मैंने समाहिता एकांत रूप से एकाग्रता के द्वारा समाधान समाहित हुआ शास्त्र संस्कृता शास्त्रों के द्वारा संस्कारित यश दृष्टि जिसकी ऐसी दृष्टि है तस्य उस व्यक्ति को आदित्य मृत स्वरूप काष्ठम दृश्य उस व्यक्ति को कालापना अतिशय कालापना दिखाई पड़ता है तथा तद दृष्टि सामने श्रेष्ठा इसलिए वो जो निर्देश है कृष्ण दृष्टि है वो दृष्टि क्या है साम वेद में संश्लिष्ट है कहा आगे मंत्र है अथ यदेव ये तद आदित्य सुशुक्लम भा सा अथयम नीलम पर कृष्णम तदम तत्म अथय यशो अंतरादित्य हिरणमय पुरुषो दृश्यते हिरण्यमश्रु हिरण्यकेश आपणका सर्व सुवर्ण अथ यदेव एतद आदित्य से सैव सा अथ यन्नीलम तद अमह तत्साम अथ यशो अंतरादित्य हिरणमय पुरुषो दृश्यते हिरण्यमस्त्रु हिरण्यकेश आपणखात सर्व सुवर्ण अथ अनंतर यदेव एतद आदित्य से भा ये जो आदित्य में शुक्ल प्रकाश है साएव भा सा, साएव सा उसी को सा कहना साम शब्द में सा अंश वो है शुक्ल भा सा अथ यम नीलम पर कृष्णम जो अत्यंत कालापना है आदित्य में तद अमह वो अमह मिलकर के हुए तत्साम वो दोनों मिलकर बन गए साम शुक्ल प्रकाश जो है वो शाह है और कृष्ण प्रकाश अमा है मिलकर के हो गया साम अब यहां से मुख्य उपासना अधिदैवत उपासना मुख्य उपासना है आगे अथ अनंतर ये तो अंगोपासना थी अब उपासना अथ यह यशो अंतर आदित्य हिरणमय पुरुषो दृश्य दे कहते हैं आदित्य मंडल के भीतर में जो एक सोना जैसा पुरुष दिखाई पड़ता है अत्यंत प्रकाश में पुरुष दिखाई पड़ता है योगी के द्वारा दिखाई देगा सबको नहीं दिखाई देता है अतः मुख्य उपासना आ गए मैं अधिदैव उपासना आरम्भ हो गई अतः यह यशो अंतर तो आदित्य हिरणमय पुरुषो दृश्य थे तो आदित्य मानी पिंड है उस पिंड के भीतर जो अत्यंत प्रकाशमय पुरुष दिखाई पड़ता है हिरणमय मानी प्रकाशमय सोना जैसा ऐसा पुरुष दिखाई पड़ता है हिरण्य मस्त्रु हिरण्य जैसा उसका दाढ़ी मुझ भी सोना जैसा ही है और केस भी सारा सोना जैसा ही है प्रकाशमय है सारा शरीर प्रकाशमय है आ प्रणखात सर्वैव सुवर्ण पैर के नख के अग्रभाग से लेकर के शीर तक पूरा सुवर्णमय है प्रकाशमय है माने प्रकाश स्वरूप पुरुष है वो ये कहना चाहते हैं ऐसा बोलना चाहते हैं आगे के साथ संबंध होगा टीका से बोलते हैं अतः यदेव इत्यादि तात्पर्य माह अथा यदेव इत्यादि का तात्पर्य बताते हैं ते एव भाष्य में कहा यदेव आदित्य से शुक्लम भा सही वसा अथा एम नीलम पर कृष्ण पद अम इत्यादि कहा था उसी का अर्थ कर रहे हैं भाष्य में ते एव ये दोनों शुक्ल प्रकाश और कृष्ण प्रकाश दोनों ये ते भा शुक्ल कृष्ण त्वे जो शुक्ल और कृष्ण रूप भा है दो प्रकार के भा है साचा अमस्य साम शुक्ल वाला सा है और कृष्ण वाला अमा है मिलकर के बन गया साम उसके बाद मुख्य उपासना के बारे में बोलते हैं अथ यह ये सो अंतर आदित्य माने आदित्य से अंतर मध्य अंतर शब्द तो मध्य आदित्य माने मंडल है उन मंडल के मध्य में अथा यह ये सो अंतर आदित्य माने आदित्य से अंतर मानी मध्य अंतर शब्द का अर्थ मध्य हिरणमय माने हिरणमय एवं हिरण है वास्तव में सोना तो नहीं सोना जैसा है हिरणमय शब्द का अर्थ सोना होता है सोना तो नहीं उपमा दिया गया जैसा सोना होता है उस प्रकार चमकीला प्रकाशमान ऐसा पुरुष है नहीं सुवर्ण विकारत्व देवस्थ संभव थी सोने के विकार को हिरणमय मैट प्रत्येक विकार अर्थ में दिखाई पड़ रहा है ऐसा लगता है किंतु सोने का विकार होना संभव नहीं है वो, वो जो परमात्मा है वो वो पुरुष आदित्य मंडलस्थ पुरुष वो परमात्मा है वो सोने का विकार हो नहीं सकता इसलिए हिरणमय हिरणमय सोना जैसा चमकीला ये अर्थ करना है गौण है हिरणमय का ना गौण प्रयोग है मुख्य प्रयोग नहीं नहीं सुवर्ण विकार तुम देव से समझो देवता है परदेवता है परमात्मा है वो सोने का विकार तो होने से सकता को कुंडल आदि हो नहीं सकता वो देश तत्व अपथ तत्व असंभव आगे उसके बारे में बोलेंगे उसके दो पक्ष हैं कहेंगे उस आदित्य मंडलस्थ पुरुष का आगे मंत्र में कहेंगे दो पक्ष है ज्येष्ठ मान पक्ष है ऋग्वेद सामवेद उसका पक्ष है ऐसा कहेंगे और पाप रहित निष्पाप है अपाप तत्व कहेंगे हाँ, अपात पाप तो सारे पाप नाश है वहां कोई पाप नहीं पाप का लेस मात्र भी नहीं वहां ऐसा करके परमात्मा सिद्ध करके वह शंका होगी कि जीव हो सकता है वो आदित्य मंडल पुरुष जीव नहीं हो सकता क्यों जीव का ऋग्वेद सामवेद दो पक्ष नहीं होते हैं और बिल्कुल पाप से रहित भी नहीं होता जीव अपावह तत्व शब्द अपहत पापत्व आएगा शब्द ये कहा रिक्षाम ज्येष्ठत्व अपहत पापत्व असंभवा यदि सोने का विकार अर्थ करेंगे सुवर्णमय हिरणमय अर्थ करेंगे हिरणमय का अर्थ विकार अर्थ में लेंगे तो ये दो धर्म आना संभव नहीं है रिक्षाम ज्येष्ठत्व अपहत पापत्व ये आ नहीं पाएगा क्यों आगे उसी पुरुष के लिए कहेंगे दो धर्म दिखाएंगे दो ज्येष्ठ है उसके दो पक्ष हैं ऋग्वेद सामवेद जो पक्ष है और पाप रहित है कहेंगे तो ऐसा होना संभव नहीं होगा इसलिए वो परमात्मा ही लेना है वो माने उपमा है जैसे सोना होता है उस प्रकार उपमा दिया हुआ है वास्तव में विकार नहीं सोने का विकार नहीं एकदम ऐसा नहीं में अचेतने पापमादि प्राप्ति देखो प्राप्त हो सत्यम निषेध अपहत पाप तो उसमें निषेध करेंगे पाप रहित कहेंगे सोने में कहीं पाप की प्रसक्ति नहीं है तो क्या निषेध करना आगे अपहत पापन तो करके निषेध करना वो पुरुष ने आदित्य मंडल में पूर्व पाप रहित है तो सोना का सोने में कोई पाप होता तो निषेध करना भी ठीक था पाप निष्पाप होता है कहना सोने में तो पाप होता ही नहीं जड़ पदार्थ है तो वहां क्या निषेध करेंगे इससे भी सिद्ध होता है कि वो सोने का विकार नहीं है हिरण में शब्द का अर्थ विकार अर्थ नहीं आएगा ये कहना चाहते नहीं सौवर्ण ही अर्थते सुवर्ण का होने वाले सुवर्ण से होने वाले को सौवर्ण बोलते हैं कुंडल आदि जो होते हैं विकार सुने के विकार अचेतन में पापमादि प्राप्ति रस्ती पाप आदि की प्रसिद्धि प्राप्ति नहीं है ये न प्रतिषिद्धि प्राप्ति हो तो प्रतिषेध करे और यह प्रतिषेध करता है बाकी आगे आएगा उसके दो पक्ष हैं ऋग्वेद सामवेद और अपहत पाप है आगे मंत्र में कहेंगे पाप रहित है कहेंगे तो पाप रहित करके निषेध किया है पाप का निषेध किया है तो चेतन में पाप की संभव है तो निषेध करते हैं तो वो सोने का विकार नहीं है सोना जैसा है कहने में तात्पर्य नहीं समझ करता और दूसरी बात अगर वो सोने का विकार होता है चाक्षु से अग्रहण और अध्यात्म में जब आएंगे चक्षुष पुरुष में आएंगे जब चाक्षुष पुरुष में आएंगे वहां पर ये बातें नहीं आएगा उसमें ग्रहण नहीं करेंगे अपहत पापमत्वादी ग्रहण नहीं करेंगे ठीक है अतो वहां हिरणमय आदि शब्द का ग्रहण नहीं करेंगे चाक्षुष चाक्षुष पुरुष में अध्यात्म में हिरणमय शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे इसके मतलब हिरणमय शब्द का अर्थ विकार नहीं सोने का विकार नहीं क्योंकि मैट प्रत्यय दिख रहा है हिरण शब्द से मैट दिख करके हिरणमय दिख रहा है विकार अर्थ नहीं है वहां पर उपमा दिया गया जैसे सोना चमकीला होता है प्रकाशमान होता है उस पर प्रकाशमान है ये कहने तात्पर्य अतो लुप्त उपमा उपमा है हिरणमय शब्द किंतु प्रश्न नहीं हुआ लुप्त उपमा है उपमा लोप हो रखा है यहाँ इव शब्द नहीं दिया हिरणमय इव बोलना था उपमा देने के लिए इव लगना था इव नहीं है लुप्त तो उपमा है उपमा तो है किंतु उपमा दिखाई नहीं पड़ रही लुप्त तो उपमा है लुप्त लुप्तोपमय व हिरणमय शब्दो ज्योतिर्मय इत्यर्थ तो यह लुप्त उपमा वाला ही हिरणमय शब्द है माने उसका अर्थ होता है हिरणमय कहते ज्योतिर्मय प्रकाशमय पुरुष है कहने में तात्पर्य है विकार अर्थ नहीं सोने का विकार हिरणमय शब्द का अर्थ सोने का विकार नहीं होता वो प्रकाश पुंज है कहने तात्पर्य है आदित्य मंडल के भीतर हिरणमय पुरुष है मैंने ज्योति ज्योतिर्मय पुरुष है यह अर्थ होगा उत्तरे से कोई समाना योजना आगे आगे वाक्य क्या है हिरण्य मस्त्रु हिरण्य केसा आपणखात सर्वे हिरण्य आगे तीन वाक्य हैं उसमें भी यही अर्थ करना हाँ। ये नहीं कि सोने का दांत सोने का दाढ़ी मूछ हो सोने का केस हो ऐसा नहीं नहीं प्रकाशमय है सारे शरीर उसका निकालना तात्पर्य कर रहा ज्योतिर्मय है तन्वता उत्तरे सुखी समाना योजना ऐसी योजना कर रहा सोने का विकार अर्थ नहीं करना हिरण्य वस्त्र माने सोने का मूछ है ऐसा अर्थ भी नहीं होगा गाड़ी मुंह सोने का है नहीं मानी ज्योतिर्मय है प्रकाशमय है सारे शरीर प्रकाशमय है उसका हड्डी मांस का शरीर नहीं ये कहने का तात्पर्य है पुरुष उसको पुरुष शब्द से कहा आदित्य मंडल जो तो पुरुष हिरणमय पुरुष का पुरुष क्यों कहते हैं पुरुष शब्द का अर्थ होता है पूरी शयनाथ पुरुष ये साहस शरीर को पूर बोलते हैं शहर है अनेक प्रकार के वस्तु पाए जाते हैं यहाँ जैसे बाजार में अनेक प्रकार की वस्तु यहाँ भी अनेक प्रकार की वस्तु हैं हड्डी मांस रक्त आदि बहुत है यहाँ मलमूत्र आदि हैं वस्तु हैं इसमें इसलिए इसको पूर्व बोलते हैं इसके सप्तमी पूरी पूर्व में रहता है ये यहाँ उपलब्ध होता है इसी में उपलब्ध होगा बाकी आत्मा व्यापक है यहाँ उपलब्ध नहीं होगा जब भी होगा तो शरीर में उपलब्ध होना है इसलिए इसको पुरुष कहा जाता है पूरी शयनाथ पुरुष शरीर में उपलब्ध होता है यह पाया जाता है इसलिए इसको पुरुष कहा जाता है आत्मा को पुरुष कहा आदित्य मंडल पुरुष कहा अथवा पूरी वा स्वयं आत्मना जगत भी पुरुष दूसरा भी विग्रह होता है अपने द्वारा सबकी पूर्ति करता है पूरा करता है इसलिए संपूर्ण जगत को पूरा करता है अपने द्वारा इसलिए उसको पुरुष कहते हैं जो अधिष्ठान है सारा उसमें कल्पित है कल्पित वस्तु की पूर्ति अधिष्ठान से होता है रज्जु न हो तो सर्प की पूर्ति होती नहीं रज्जु होने पर ही सर्प की कल्पना होती है उसी प्रकार तो परमात्मा हो तब भी जगत की कल्पना होगी तो सारे जगत को पूरा करने वाला वही आत्मा ही है अधिष्ठान ही है कल्पित वस्तु की पूर्ति के लिए अधिष्ठान होता है इस रूप से संपूर्ण जगत को पूर्ण करता है इसलिए भी वो पुरुष कहा जाता है दो अर्थ हुआ पुरुष शब्द का अर्थ हिरणमय पुरुष था पुरुष शब्द का अर्थ यह है या तो, या तो पूरी में मैंने शहर में मिलता है शरीर में पाया जाता है कभी भी अहम में अनुभव शरीर में होना है बाहर होगा नहीं आत्मा व्यापक है शरीर अवस्था में ही होगा शरीर में पाया जाता हो उपलब्धि यही होती है जैसे गाय का जो दूध है पूरे शरीर में व्याप्त होने पर भी उपलब्ध कहाँ से होता है दूध स्तम से होता है सिंह से नहीं होगा सिंह को सिंह को चढ़ेंगे पूछ को नहीं चढ़ेंगे दूध मिलेगा नहीं दूध पूरे शरीर में व्याप्त है किंतु मिलेगा स्तन से वह उपलब्धि के स्थान है वो इसी प्रकार ये भी उपलब्धि के स्थान है व्यापक है किंतु उपलब्ध नहीं होता है यहां उपलब्ध नहीं होता आत्मा किसी को भी आज तक आत्मा की प्राप्ति हुई तो शरीर अवस्था में प्राप्त हुआ है हम ब्रह्माष्ट में वृत्ति बनी है शरीर भाव में बनी है इसलिए कहा पुरुष शब्द का अर्थ होता है पूरी शयनाथ पुरुष पूर्व माने शरीर इसमें उपलब्ध होने से पुरुष कहा जाता है आत्मा को मुख्य पुरुष शब्द का अर्थ आत्मा है दूसरा अथवा पूरे व स्वेन आत्मना जगत इति पुरुष अपने रूप से सारे जगत को पूर्ण करता है इसे पुरुष कहा जाता है माने कारण जो होता है अधिष्ठान अधिष्ठान कारण है आत्मा तो कार्य को पूरा करने वाला होता है मिट्टी हो तो घट बनता है घट की पूर्ति मिट्टी से है इसी प्रकार वो आत्मा हो तो रस्सी हो तो सर्प की पूर्ति होगी रस्सी ना हो तो सर्प कल्पना कहां करेंगे आप इसलिए वह आत्मा के होने पर जगत की कल्पना होती है इसलिए उसको पुरुष कहा गया दो आत्म जगत पुरुष पुरुष दृश्यते है आगे हाँ। ये ऐसा आदित्य मंडले पुरुष हो दृश्यते दृश्यते में दिखाई पड़ता है क्या नहीं, नहीं दिव्यम ददा ते चक्षु पश्चिमी योगमेश्वरम इस चक्षु से तो देव नहीं न तो आम सत्य से दृष्टुम अने नहीं बस वो चक्षुषा ये तुम्हारी जो चक्षु है इसे तो मुझे देख नहीं पाओगे ये तो विषय देखने के लिए है बाहर विषय आत्मा देखने के लिए नहीं है न हाँ, तो मुझे देख नहीं पाओगे और दिव्यम ददामित चक्षु पश्चिम योगमेश्वरम मैं दिव्य चक्षु तुम कहा ज्ञान रूपी चक्षु से देखा जाता है आत्मा को देखने के लिए ज्ञान रूपी आंख चाहिए भगवान शंकर का तृतीय नेत्र जो है ना ज्ञान नेत्र है वो ज्ञान नेत्र है दो नेत्र तो प्रसिद्ध ही है संसार देखने के लिए तृतीय नेत्र ज्ञान नेत्र होता है कोई ज्ञान नेत्र होने के बाद भी काम को नाश कर सकता है इच्छा का नाश तभी हो पाएगा भगवान शंकर ने कामदेव को नाश किया कामदेव माने इच्छा इच्छा देवी को कामदेव कहते हैं ये इच्छा है विष्णु की इच्छा कोई काम है तो उसका नाश भगवान ने ज्ञान से किया है तो दृश्यते का अर्थ करते हैं कौन देखता है कहते निवृत्त चक्षु भी जिन्होंने इंद्रियों को विष्णु से मोड़ करके अंतर्मुखी वृत्ति में ला, लाया है उन्हीं उन्हीं को द्वारा देखा जाता है निवृत्त चक्षुवीर दृश्यते बहिर्मुखी चक्षु से नहीं देखा जाता तो यही है <clears throat> परांजी कहानी स्वयंभू तस्मात परांग पश्यति नात्म कश्चित धीरा आत्मा अक्षर आवृत्त चक्षु वहां आवृत्त चक्षु का निवृत्त चक्षु एक ही बात है जिन्होंने विषयों से इंद्रियों को मोड़ दिया है बदल दिया है भीतर की तरफ कर दिया इंद्रियों को वृत्ति को कोई देख पाता है इसी प्रकार यहां निवृत्त चक्षु एक दृश्य थे जिन्होंने विषयों से इंद्रियों को अंतर्मुखी वृत्ति बना दिया विषयों की तरफ जिनकी वृत्ति जा नहीं रही इंद्रिय वृत्ति उन महापुरुष के द्वारा दिखाई पड़ता है माने उसका अर्थ होता है समाहित चेतो भी कहा जिसके चित्त एकाग्र हो चुका है अनेकाग्र विक्षिप्त चित्त नहीं है कभी घटाकार पटाकार मठाकार ऐसा नहीं आत्माकार वृत्ति में गया हुआ है ऐसे व्यक्ति के द्वारा दिखाई देता है वो आदित्य मंडलस्थ पुरुष उनके विषय है कहा जगत दृश्य दृश्यते माने निवृत्त चक्षुवीर दे माने समाहित चेतो भीर जिसके चित्त एकाग्र हो गया है उनके द्वारा दिखाई पड़ता है और बोलते हैं ब्रह्मचर्यादि साधन साधनापेक्ष ही जिनके पास ब्रह्मचर्यादि साधन हो समदवादि साधन हो उनके द्वारा ही उसके अपेक्षा से ही एकाग्र चित्त होगा एकाग्र चित्त वाले से आदित्य मंडलस्थ जो पुरुष है ऐसा पुरुष है हिरणमय और हिरण्य मश्रु हिरण्य केश आस प्रणखा सर्वैव सुवर्ण ऐसा कहा होगा ऐसे पुरुष दिखाई पड़ता है माने वो ज्ञान का विषय बनेगा आंख का विषय नहीं विमूढ़ा नाम पश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुष आत्मा है मूर्ख लोग नहीं देख पाते यह आंख से तो आत्मा देखना नहीं होता है किंतु पश्यंती ज्ञान चक्षु जिनके पास ज्ञान रूपी चक्षु है वो देखते हैं आत्मा को माने जैसे दाल में नमक देखना होता है कौन सी आंख से देखते हैं दाल में नमक नमक देखो बोलते हैं आप किस आंख से देखते हो अनुभव से देखते हो ये आंख से तो नमक नहीं दिखेगा दाल में नमक दिखना जैसे ज्ञान कर जानकारी करो अर्थ है उसका अर्थ क्या है जानकारी करो क्या अर्थ होता है ज्ञान का विषय बनाना है हाँ नमक आएगी नहीं है ये नहीं कि आंख से देख करके नमक टटोला जाए नहीं टटोला जाता वैसे यहां भी है तो ये कहा दृश्यते का अर्थ करते हैं किसके द्वारा दिखाई पड़ता है निवृत्त चक्षु भी जिनके इंद्रिया निवृत्त हो गई विषयों से उसी के अर्थ करते हैं समाहित चेतो भी जिसका चित्त एकाग्र हो गया है विषयों से मुड़ गया भीतर की तरफ हो गया है अंतर्मुखी वृत्ति में आ गया तभी होगा जब तक विषय देखेंगे तब तक आत्मदर्शन होना संभव नहीं है कहते मछली का दृष्टांत देते हैं मछली पानी में रहती है आप आत्मा में हैं सर्वम आत्मा आत्मा से अतिरिक्त तो कुछ आई नहीं आ, आप आत्मा में जैसे मछली पानी में होती है आप आत्मा में है कि तो आत्मदर्शन आप कर नहीं पाते हैं पा रहे हैं किंतु मछली के तरह होने पर मछली पानी में रहती है जब तक सीधी रहती है तब तक पानी नहीं पी सकती हो उसको पानी पीना होता तो उल्टा होना पड़ेगा मछली जो शाम सुबह में देखते होंगे मछली उल्टी होती है उसमें पानी उसके गले में पानी जाता है सीधा में पानी नहीं जा सकता कितने भी बाढ़ आ जाए कुछ हो जाए इसी प्रकार आप भी जब तक सीधे रहेंगे विषय की तरफ रहेंगे तब तक आत्मदर्शन नहीं होगा हाँ। आपको भी उल्टा होना पड़ेगा हम्म। आत्मदर्शन करना हो तो निवृत्त चक्षु होना पड़ेगा अभी तो आप सीधे हैं हम्म। बाहर की तरफ हैं जैसे मछली जल में सीधी है अब आत्मा में है आप सर्वम खलु इदम ब्रह्म आत्मा से छोड़कर तो कुछ है ही नहीं अब आत्मा में होते हुए आत्मा अप्राप्त है आपको जैसे मछली में पानी में रहते हुए पानी नहीं मिलता उसको कब तक नहीं मिलता जब तक तो उल्टी नहीं होती तो आपको भी उल्टे होना पड़ेगा मैंने शरीर उल्टा नहीं <laughs> ये नहीं हाँ। इंद्रियों को विषयों से मोड़ना होगा मन को विषयों से मोड़ना होगा अंतर्मुखी वृत्ति में जाना होगा उसके लिए ब्रह्मचर्य आदि अपेक्षा ही कहा ब्रह्मचर्य आदि साधन चाहिए समतम उपराध उपरति आदि है यम नियम आदि साधन है ये सब चाहिए तभी हो पाएगा कहते तेजस्विनोपी मस्तु के साधय कृष्णाशु एक शंका होती है चलो प्रकाशमय हो तेजस्वी है तेज का पुंज है वो पुरुष ठीक है हाँ हिरणमय है सोना जैसा प्रकाशमान है और हिरण्य मशरू हिरण्य केश इत्यादि और दाढ़ी मूछ भी सोना प्रकाशमय है केश भी प्रकाशमय है आस सर्व प्रणखा आ प्रणखात एक सुवर्ण बोलते हैं नख पैर के नख से अग्रभाग से लेकर सिर तक सब प्रकाशमय है ऐसा होने पर भी लोक में देखा है कोई गोरे गोरे आदमी होते हैं किन्तु केस तो काला होता है तो उसके भी केस तो काले होंगे वो भले प्रकाशमय हो पुरुष किंतु केस काला होगा शंका होती है तेजस्वी नोटी वो तेजस्वी है प्रकाशमान है ठीक है मानते होने पर भी मश्रु केश आदय है कृष्णाशु दाढ़ी मूस आदि केश आदि तो उसके काले हो ये शंका हो गई उत्तर देते अतो विषि नष्टी फिर विशेषण लगा देते क्या बोलते हैं हिरण्य मश्रु हिरण्य केश अरे बाबा दाढ़ी मूछ भी प्रकाशमान है काले नहीं है इसे कहा हिरण्य मश्रु हिरण्य केश इति ऐसा विशेषण लगा दिया स्मृति में उसके दाढ़ी मूस भी प्रकाशमय है और केश भी प्रकाशमय है ज्योतिर्मयानी एवं अश्य के केशा से उसके ज्योतिर्मय है सब प्रकाश पुंज ही है सारा दाढ़ी मुझ कोई शरीर में कोई अंग अन्य नहीं प्रकाश को छोड़ करके वो प्रकाश का ही है वो परमात्मा ऐसा है ज्ञान रूपी प्रकाश का है कौन सा प्रकाश हम्म। ऐसा लाइट वाला नहीं ज्ञान रूपी प्रकाश है प्रकाश दो प्रकार के होते हैं जैसे वस्तु अभी अंधेरे के वस्तु हम देख रहे हैं ये प्रकाश से देख रहे हैं अंधेरे में नहीं दिखता था हम देख रहे हैं जैसे भौतिक प्रकाश से हम वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हैं जानकारी प्राप्त करते हैं उसी प्रकार अज्ञान से ढका हुआ जो वस्तु होगा जानकारी का अभाव है इस पुस्तक का जानकारी नहीं है तो अज्ञान है अज्ञान से ढका हुआ है ये तो इसके लिए क्या होगा ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित होगा भौतिक प्रकाश से अज्ञात वस्तु जाना नहीं जाता हम इसको नहीं जानते पुस्तक को किंतु टॉर्च जलाएंगे सूर्य का प्रकाश मिला फिर जान जाएंगे क्या नहीं अज्ञात वस्तु होगा अज्ञान से ढका हुआ को अज्ञात बोलते हैं जैसे अंधेरे से ढका हुआ जो होगा वो तो भौतिक प्रकाश से जाना जाता है किंतु अज्ञान से जो ढका हुआ होगा अज्ञात होगा वस्तु उसके लिए ज्ञान रूपी प्रकाश से वो अज्ञान हट जाएगा अंधेरा भाग जाएगा वस्तु ढकने का काम करता है ज्ञान इसलिए उसको भी तमा आदि शब्दों से कहा जाता है स्थान स्थान पर तो ये भी प्रकाश होता है आत्मा ज्ञान रूपी प्रकाश हो ऐसा नाइट का पुंजा नहीं कोई कोई कहते हैं आत्मदर्शन हो गया जिल जिल जिल जिल जिल किया प्रकाश चमकीला आया हाँ। ये सब कल्पना है आपके मन में कल्पना बन गई आत्मा कोई ऐसा कोई रूप रहित है न रूप मत्स्य तथोपलभ्य थे तो उसका रूप है नहीं और आप रूप समझते हैं आत्मा के रूप नहीं होता वो तो, निरूप है निर्गुण है निष्क्रिय है कहां रूप होना उसका उसका ज्ञान स्वरूप है वो ऐसा है तो कहा ज्योतिर्मयान ये अस्य मसरूणी कैसा अर्थ कहा उसके सारे के सारे बाल भी काले नहीं है सब ज्योतिर्मय है प्रकाशमय है सारे और इतना ही नहीं पूरे शरीर नख के अग्रभाग पैर के नख के अग्रभाग से लेके सिर तक पूरा ज्योतिर्मय है आदित्य मंडलस्थ पुरुष ऐसा है माने वह परमात्मा है ये कहना चाहते हैं आप्रणखात माने अभिविधि है नख से लेकर के पैर के नख से लेकर सारा आप अर्थात प्रणखो नखाग्रम प्रणख शब्द का मैं मतलब नखाग्रम नख्य अग्रवाद पैर पैर के नख के से नखाग्रेण सह सर्व सुवर्ण इव भारूप इव कहा भारूप इत्यर्थ प्रकाश स्वरूप ही हो सारा ऐसा पुरुष है ये बताया अच्छा किंतु सारा प्रकाश है आंख उसके लाल लाल है ऐसा कहेंगे आंख उसके लाल लाल है ऐसा उत्तर देंगे अगले अगले मंत्र में कहेंगे और उसके दो पंखा है उस पुरुष के जैसे चिड़िया उड़ती है वैसे दो पंखा है ऋख और शाम दो गेस्ट है कहेंगे दो पंखा है उसके और अपथ पापमा है पाप रहित है वो कोई जीव होगा कोई शंका करे वहां आदित्य मंडल में कोई जीव कहते जीव नहीं लेना जीव तो कोई कुछ न कुछ पाप होता है जीव में किंतु वो तो परमात्मा ही है ऐसा अर्थ करेंगे अपात पापमत विशेषण लगाएंगे इत्यादि कहेंगे इस मंत्र का भाष्य ठीक टीका से देखें अंगोपासना ने समाप्ति अनंतरम आदिदैविकम प्रधान उपासना विवक्ष उपास्य स्वरूपम उपदेश्य अंगोपासना जो चल रही थी उसकी समाप्ति करके अब आदिदैविकम दो प्रकार से उपासना करेंगे मुख्य उपासना आदिदैविक उपासना और अध्यात्म उपासना आदिदैविक में आदित्य मंडलस्थ पुरुष परमात्मा रूप से उपासना और अध्यात्म में गाएंगे अक्षिष्ट पुरुष ये अक्षिणी पुरुष दृश्य इत्यादि आएगा तो अंगोपासना में अंग उपासना चल रही थी उसके समापन करके अनंतरम अथ शब्द का अंतर है आदिदैविकम प्रधान उपासना मुख्य उपासना प्रधान उपासना मुख्य उपासना विवक्षु ऐसे कथन करने के इच्छुक हैं मंत्र उपास्य स्वरूपम उपनिषद उपास्य का जो स्वरूप है कैसा स्वरूप है उपास्य देवता का आदित्य मंडलस्थ पुरुष का स्वरूप क्या है वो जिसने अथ इत्यादि कहा उसका स्वरूप बताना चाहते हैं अथ इत्यादि का अथ येसो अंतर आदित्य आदित्य से अंतर मध्य कहा अंतर शब्द का था मतलब अव्यय है मध्य आदित्य के बीच में भीतर हिरणमयो हिरणमय हिरणमय वो माने प्रकाश के स्वरूप है माने उपास्य कैसा है ऐसा हमारा उपास्य है यहाँ उसके ज्योतिर्मय एक व्यक्ति है आदित्य मंडल के भीतर और उसके दाढ़ी मूछ भी ज्योतिर्मय है केस भी ज्योतिर्मय है नक्श से लेकर के सिर तक सारा ज्योतिर्मय है ऐसा बताया आदि मानी प्रकाश माने उपास्य वस्तु का स्वरूप बताया हुआ है ठीक है किमिति हिरणमय पदम उपमार्थम व्याख्या है या हिरणमय पद मान हिरणमय जैसा यह अर्थ क्यों लिया उपमा क्यों बताई जा रही है मुख्य हिरणमय क्यों नहीं लिए जाए सोने का विकार है वहां एक पुरुष है सोना सोना है ऐसा नहीं माना जाए उसको सोना जैसा क्यों कहा प्रकाश अर्थ क्यों ले रहे हैं किम इति हिरणमय पदम जो हिरणमय पद मुख्य आया हुआ है उसको उपमा अर्थ में क्यों ली जाती है सोना तो नहीं सोना जैसा ऐसा क्यों कहा हिरण्य विकारत्व में पत्र विवक्षित क्यों सोने का विकार ही क्यों नहीं ले जाए हिरणमय माने मयर प्रत्यय विकार अर्थ में क्यों नहीं ले जाए सोने का विकार ही क्यों नहीं माना जाए ये शंका आ तो कहा नहीं इत्यादि भाष्य में कहा था नहीं सुवर्ण विकारत्व देव से संभव थी वो देवता है वो सोने का विकार होना संभव नहीं है दूसरी बात रिक्षाम ज्येष्ठत्व अपत पापंद्र स्वभाव क्योंकि वो सोने का विकार में ये होना संभव नहीं है क्या रिक्शा में ज्येष्ठ तो अपातपात्मक तो हो नहीं सोने के विकार में तो प्राप्त ही नहीं है पाप पाप की प्राप्ति हो तो निषेध करें वो पुरुष ने पाप का निषेध करना है अपत पापमा बोलेंगे आगे तृतीय मंत्र में आगे आएगा अश्य रिक्शा में ज्येष्ठ अपत पापमा इत्यादि कहेंगे वो संभव नहीं है इसलिए कहा ठीक है अपत पाप अपत पापत तो असंभवम थे उसमें अपहत पापक तो असंभव की सिद्धि करते हैं किसमें सुवर्ण के विकार में असंभव पापक तो होना संभव नहीं दिखाते नहीं इत्यादि भाष्य में कहा नहीं सौवर्ण अचेतने पापमादि प्राप्ति रस्ती सुवर्ण का विकार जो सौवर्ण होगा वो अचेतन वस्तु है उसमें तो की प्राप्ति नहीं तो यह निषेध करना है श्रुति ने अपहत पापमा बोलना है प्राप्त सत्यम निषेधा प्राप्ति होने पर निषेध किया जाता है अप्राप्ति में निषेध नहीं होता आज आप यहाँ आए हैं मैं कह सकता हूं तो कल नहीं आना जो व्यक्ति नहीं आए उसको मैं निषेध नहीं कर सकता हूं निषेध प्राप्ति होने पर निषेध होता है प्राप्त सत्याम निषेध प्राप्ति होने पर निषेध होता है जो प्राप्त ही नहीं उसको क्या निषेध करेंगे तो यहां सोने के विकार में प्राप्त ही नहीं पाप, में की प्राप्ति नहीं तो क्या अपद पाप निषेध क्या करेंगे आगे अपहत पापन तो करेंगे पाप का निषेध करना है इसलिए भी सोने का विकार हो नहीं सकता उपमा ही लेना पड़ेगा यही कहा ठीक है पापमादि इति आदि पदम तत्कार्य संग्रहार्थम कहते हैं पापमादि का कहा हुआ है इसलिए क्या लेना है सौवर्णे अचर्य पापमादि पापमा एक तो पाप हो गया आदि से लेना उसका कार्य जो वो भी नहीं है उसमें तो सोने में सोने के विकार में दुख भी नहीं होता तो निषेध कैसे करेंगे निषेध कर रहे हैं इसका मतलब सोना नहीं है सोना जैसा है प्रकाश में पुरुष है कहने में तात्पर्य है कहा अच्छा किंच और भी बात है किंच चक्षुषी उपास्य पुरुषे सुवर्ण विकारत्व से अग्रहणात्म वहां सुवर्णमय नहीं कहेंगे चक्षुष्ठ पुरुष में और आदित्य मंडल में कह रहे हैं वो एक ही दोनों को एक ही बताएंगे अगर सोने का विकार होता तो चक्षुष्ठ को ही सुवर्णमय बोलना चाहिए चक्षुष्ट पर्याय में नहीं कहेंगे सुवर्णमय नहीं कहेंगे ये कहा किंच चक्षुषी उपास्य जो अध्यात्म उपासना चलेगा आगे उसमें पुरुष है उस पुरुष में उपास्य पुरुष में सुवर्ण विकार अब तो सग्रहणात वह सोने का विकार का ग्रहण नहीं होता चक्षु के भीतर तो सोने का विकार है ही नहीं स्पष्ट है इसलिए गौण में भी हिरणमय पदम इसलिए हिरणमय पद आया मुख्य नहीं गौण है सादृश्य में प्रयोग किया गया है सोना जैसा मैंने प्रकाशमय है कहीं में तात्पर्य का ये कहा इसलिए चाक्षु से अग्रहणात कहा चाक्षुष पुरुष में हिरणमय पद का ग्रहण नहीं है इसलिए भी वह सोना के विकार ले नहीं सकते उसको ठीक है न तो तत्र तत्रापि आतिदेशिकम तद ग्रहण पूर्वादि बोलेगा कि वहां भी वह अधिदेश करके लाएंगे जैसा वहां वैसा यहाँ वहां आगे यही बोलेंगे जैसा उसका गेष्टा है वैसा इसका गेष्टा है ऐसा ऐसा बोलेंगे अधिदेश के द्वारा लाएंगे यहां भी हिरणमय को पूर्वादि बोले बताते तो हैं न तो, तत्रापि माने चाक्षुष पुरुष में भी आतिदेशकम तद ग्रहण माने हिरणमय का ग्रहण तत्पर से हिरणमय हिरणमय का ग्रहण किया जाए रिक्षाम ज्येष्ठत्वादि नाम रिक्षाम आदि जो होते हैं उसके जैसे रिक्षाम ज्येष्ठा जो ज्ञेष्ठा उसके वैसे ही ज्ञेष्ठा उसका अतिदेश करते हैं साक्षी इसका भी करेंगे इसका हिरणमय का भी कहा तादृश विरोधा किंतु वहां पर उस रूप से विरोध होने से नहीं कर सकते तस्मात गौणम एवं हिरणमय पदम यदि पसंद इसलिए हिरणमय पद गौण ही है मुख्य नहीं सोने का विकार नहीं लेना उसको उसको एक उपसंगार के अतः इत्यादि भाषा में अतो लुप्त उपमा ये लुप्त उपमा वाला है माने इव शब्द नहीं दिखता है हिरणमय इव नहीं दिया किंतु इव अर्थ नहीं है लुप्त उपमा है उपमा कभी को लुप्त कर दिया किंतु अर्थ रहेगा उपमा का लुप्त उपमा एवं हिरणमय शब्द हिरणमय शब्द लुप्ता उपमा ऐसे उपमा जिसकी लोप हो रखी है ऐसा शब्द है ये ज्योतिर्मय अर्थ उसका अर्थ होता है ज्योतिर्मय आगे टीका में कहते हैं हिरण्य मश्रु इत्यादि विशेषणेश भी तुल्यम गौणोत्तम हिरण्य मश्रु हिरण्य केश इत्यादि में भी गौण गौणी है समान है गौण मुख्य नहीं है ये नहीं कि शरीर तो ज्योतिर्मय हो हाँ, किंतु ये मूस आदि जो है सोने का हो ऐसा भी नहीं है वो भी गौण है वो भी ज्योतिर्मय है इसमें तात्पर्य है ये कहा उत्तरेशु अपनी समाना योजना आगे जो हिरण्य मशरू हिरण्य केसर आप सर्वय व सुवर्ण जो कहा हुआ है सब में वैसे ही करना ज्योतिर्मय अर्थ करना ये कहा अगर पूरी सहनाथ पुरुष पुरुष शब्द का अर्थ करिए इस शरीर में पाया जाता है इसलिए पुरुष कहा जाता है अथवा सबको पूरा करने वाला है इसलिए पुरुष कहा जाता है क्योंकि अधिष्ठान है सबका अधिष्ठान है अधिष्ठान ही कल्पित वस्तु की पूर्ति करता है सर्प न हो रज्जु न हो तो सर्प की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती अगर सुक्ति का टुकड़ा न हो तो चांदी बन ही नहीं सकता उसको पूर्ति वही करता है मरुभूमि न हो तो जल हो ही नहीं सकता जल की कल्पना मरुभूमि होने पर भी होती है ये सब आगे ठीक है ननु आदित्य मंडल है पुरुष हो न अस्माभिर थे हमारे द्वारा तो दिखाई नहीं पड़ता पुरुष कहाँ है आदित्य मंडल में दिखाई नहीं देता ये शंका है उसके उत्तर में कहा अरे बाबा तुम्हारे जैसे मधुर दिखेगा निवृत्त चक्ष भी विशेषण लगा दिया जो विषयों से व्यावृत इंद्रिया हैं उनके द्वारा दिखाई देता है एक विशेषण दूसरा केवल निवृत्त चक्षु मात्र समाहित चेतो भी मन भी एकाग्र हो गया जिसका तीसरा ब्रह्मचर्य आदि अपेक्षा ही जो समदवादी साधन है ब्रह्मचर्य आदि साधन है जिसके पास अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह ये सब जिसके पास है तभी होगा यम नियम आदि जिसने पालन किया हो उसके द्वारा दिखाई पड़ता है माने वो इस आंख का विषय नहीं है समाहित चित्त हो गया एकाग अंतर्मुखी वृत्ति में आंख काम नहीं करेगी वो ज्ञान चक्षु का विषय है शास्त्र संस्कृत बुद्धि के द्वारा देखा जाता है ये कहा ठीक है विशिष्टाधिकारी नाम आदित्य पुरुष दर्शन उपाधि जो विशिष्ट अधिकारी हैं साधन के द्वारा जो विशेष बन चुके हैं जो ऐसे अधिकारियों को आदित्य मंडल पुरुष का दर्शन होता है आपको भी वो देखना है तो विशिष्ट बनना पड़ेगा साधन करनी पड़ेगी साधना के बिना नहीं होगा माने इंद्रियों को अंतर्मुखी वृत्ति करना होगा हाँ, मन एकाग्र करना होगा यम नियम आदि का पालन करना होगा विधि पूर्वक तब वो पुरुष का अनुभव होगा देखना माने अनुभव होना ये नहीं कि आंख का विषय नहीं जैसे दाल में नमक देखना बोलते हैं वो अनुभव का विषय है आंख का विषय नहीं होता ऐसे ब्रह्मचर्य आदि साधना पेक्ष ही कहा था अच्छा आगे भाष्य में कहा था तेजस्वी भी मसूर के साथ कृष्णाशु चलो शरीर पूरा तेजस्वी हो ज्योतिर्मय हो फिर भी दाढ़ी मूछ वाले तो काला ही होना चाहिए शंका हो तो हुई तो कहा नहीं नहीं हिरण्य मसूर हिरण्य कैसे इत्यादि वैसे बताया सब सुवर्णमय है उसका ज्योतिर्मय ज्योतिर्मयानी ये अश्य मसूरी कैसा इत्यर्थ सबके सब सबके सब, ज्योतिर्मय है सब आपरणघात नख के अग्रभाग को प्रणक बोलते हैं पैर के नख के अग्रभाग को प्रणक कहते हैं नखाग्रम प्रणको नखाग्रम प्रणक शब्द का नख अग्रभाग है नखाग्रेण सह नख के अग्रभाग से लेकर के शीर तक सारे के सारे सुवर्णमय है मैं सुवर्ण सुवर्ण इव भारूप इतर जैसे चमकीला होता है सोना उसे चमकीला स्वरूप है ज्योतिर्मय स्वरूप है कहा आगे मंत्र है तस्य यथा कप्या संकुंडलीकम अक्षणी तस्ोदीति नाम सएष सर्वेभ्य पापमना उदीत उदेति हवै सर्वे पापमभ्यो यं वेद तस्था कप्यासम पुंडरीकमेव अक्षिणी तस्ोदीति नाम सएश सर्वे पापमना उदिता उदेति हवै सर्वेभ्यो पापेभ्यो एवं वेद तस्य जो आदित्य मंडलस्थ पुरुष है उसका यथा कप्यासम जैसे बंदर का बानर का जो गुदा भाग होता है लाल होता है माने आश्यते अनैन आस्ते थी आश्य जिसके द्वारा बैठा जाता है वह उसको आशा बोलते हैं जिसके द्वारा बैठा जाए किसके वो गुदा के हिस्से से बैठता है वो जैसे लाल होता है गुदा की तरफ बानर का उसी प्रकार पुंडरीकम उसके आंख इसी प्रकार है कप्यासम पुनरिकम ये कप्यास से क्या लेना है पुण्डरी कमल होता है उसी प्रकार कमल होता है जैसे बानर का गुदा होता है उस प्रकार कमल उस कमल के समान इसकी अक्षिणी है आंख है लाल है बानर के गुदा भाग लाल होता है उसी के द्वारा उपमा दी गया कमल में जैसे बानर का गुदा लाल उसी प्रकार कमल लाल है रक्त होता है उस उस कमल के रक्त से उपमा दिया गया इसके आंख में माने उपमित उपमा है यहां बानर के गुद माने गुदा से उपमा दी गई किसकी कमल की और कमल से उपमा दिया गया इसके आंख में ऐसा लाल आंख है कहते हैं बानर की गुदा जैसा नहीं बानर की गुदा जैसा हो गया कमल और कमल जैसा है आंख रक्त लाल नेत्र है नेत्र लाल है रक्त नेत्र है एक तस् यथा कप्यासम पुंडरीकम जैसे कपि का आस भाग होता है बैठने का स्थान गुदा भाग लाल होता है उसी प्रकार कमल लाल होता है उपमे उपमा दी गई बानर के उपमा के द्वारा कमल में लाया उपमा और कमल के उपमा दिया गया उसके हाथ में ये उपमित उपमा एक उपमा ने दो बार उपमा दिया ये उपमित उपमा होता है एवं अक्षणी तस्य उद इति नाम उसका नाम उत होता है परमात्मा उस आदित्य मंडल पुरुष का नाम उत ऐसा नाम है उसका नाम उत ऐसा बोलते हैं शास्त्र में उत कहते हैं उठा है वो क्यों स ऐसा सर्वेभ्य पापमन उदिता वो आदित्य मंडल पूरी सारे पापों से ऊपर उठा हुआ है इसलिए उसका नाम उठ पड़ा हुआ है चाहे सएसा वही जो आदित्य मंडल पुरुष है सर्वेभ्य मध्य उदित या उदिति छपा है उदित छपा है उदित उदित होना चाहिए उदिति नहीं पहले वाला उदिति ठीक है तस्व उत इति नाम उत इति नाम वो ठीक है अभी यहां पर उदित पाठ होना चाहिए उदिति पाठ नहीं पा, स ऐसा सर्वेभ्य पाप्यभ्य उदित सारे पापों से उठा हुआ है उदेति हवई सर्वेभ्य पाप में भी विवरे इसकी जो उपासना करेगा आदित्य मंडल पुरुष की वो भी सारे पापों से ऊपर हो जाता है उठ जाता है वो उपासक भी सारे पापों से उठेगा फल बता दिया ये कहा ठीक है कहते हैं सर्वैव सुवर्ण विशेषणात् अक्षरों भी सुवर्णत्व प्राप्त है आप्रणखात सर्वैव सुवर्ण बोल दिया था नख के अग्रभाग से लेकर के सारे शरीर ज्योतिर्मय है कहा तो ऐसे कहने पर क्या होगा आंख भी वैसे ज्योतिर्मय होगा उसका ये प्राप्त हो गया आंख भी प्रकाशमय होगा ये प्राप्त होने पर क्या आगे मंत्र में कहते हैं कहा सर्वैव सुवर्ण पूर्व मंत्र में कहा था सारा सुवर्ण है उसका आपरणखात सर्वैव सुवर्ण ऐसे बोल दिया था सर्वैव सुवर्ण इति विशेषणात ऐसे विशेषण लगा दिया उस पुरुष का लगाने से अक्षुणर भी सुवर्णत्व प्राप्त है आंख भी तो सुवर्णत्व प्राप्त होगा आंख में भी वो भी ज्योतिर्मय प्राप्त होगा ऐसे शंका आने पर कहा तस्य इत्यादि कहा तस्य एवं सर्वतः सुवर्ण वर्णस्य सारे शरीर ज्योतिर्मय है उसका होने पर भी सुवर्ण वर्ण है जिसका माने ज्योतिर्मय वर्ण है जिसका होने पर भी अक्षणोर विशेष फिर भी आंख में विशेष है उसकी आंख लाल है रक्त है बाकी तो सारे प्रकाश पुंज है किंतु आंख लाल है उसका अक्षोर विशेष प्रश्न हुआ कथम कैसी विशेष है आंख में प्रश्न आया तो उत्तर दे दे तस्य यथा कपेर यथा कपेर मरकट से आशा कप्यास में संधि हो रखी है कपे आशा कप्यास ष्टी समास है कपि का जो आश होता है कपि माने बानर जिससे जिससे बैठता है उसको कप्यास कहते हैं किससे बैठता है वो गुदा के हिस्से में बैठता है यथा कपेर मरकट से आसह कपी माने मरकट मरकट बोलो कपी बोलो एक ही चीज है माना उसका जो आशा है कप्यासा कपेर आशा कप्यासा कपि के जो आश है उसको कप्याष्टी समास है कपे और आशा में आशेर उपवेशना तस् आशा उपवेशने धातु से आस्ते इति आसन आस धातु से बना हुआ आसन आशेर उपवेशनाथ आस धातु बैठने के लिए होता है आस उपवेशन ऐसे अर्थ वाला जो धातु है उसका करणे घया घय प्रत्यय लगा आशा बनाने के आश धातु से घय करके आशा बने किस अर्थ में गए हुआ करणे कर्ण अर्थ में कर्णादि कर्णस्थ सूत्र के अधिकार में हलस्त सूत्र से गाय प्रत्यय किया धातु हलत है आस धातु उसे गाय किया है कर्णादि कर्णस्थ सूत्र के अधिकार में अधिकरण में गाय नहीं है करण में गाय जिसके द्वारा बैठता है उसको आशा कहा जाता है कपि बानर जिसके द्वारा बैठता है वो गुदे की गुदा के भाग से बैठता है तो उसको आशा कहा जैसा वो होता है कैसा लाल होता है वो रक्त होता है उसके उसके उपमा दी गई है कमल में अक्षिणी में इसमें दिया है पुंडरिक में दिया है पुंडरिक माने कमल है और उस पुंडरिक का उपमा दिया है उसके आंख उस पुरुष के हाथ उपमित उपमा है यहाँ ये बोलना चाहेंगे आशेर उपवेशनार्थ से करणे घया करण में घय प्रत्यय है आस्ते अनेन इति आशा जिसके द्वारा बैठता है उसको आशा कहा जाता है कौन बैठता है बानर कत्याश कपि पृष्ठांतो न उपविशति माने एक कप्यास का अर्थ होता है कपि का पृष्ठ भाग का अंतिम हिस्सा पीछे के भाग का अंतिम हिस्सा ये न उपविशित जिसके द्वारा बानर बैठता है उसको कत्यासा कहते हैं वो लाल होता है कत्यासा इव हाँ पुंडरीकम जैसे कप्यास होता है रक्त वर्ण का होता है उसी प्रकार कमल होता है रक्त वर्ण का अब उसकी उपमा कमल में ले जाना कप्यास के समान कौन है कमल पुंडरीकम अत्यंत तेजस्वी एवं अत्यंत तेज है माने रक्त है वो भी अच्छा एवं अस्य देव अक्षणी इस प्रकार इस देवता की आंख है अक्षणी दो वचन ये देवता की आंख ऐसा माने बानर के गुदा के समान कमल है उस कमल के समान इसका आंख है उपमित उमानत्वात न हीन उपमान कहते उस देवता के आंख के लिए बानर का जो गुदा कैसे दिया लाल ये तो निंदा हो गई हाँ। तो निंदा है ये हीन उपमा है माने उत्तम उपमा नहीं हीन उपमा हुआ ऐसा कहते नहीं यह उपमित उपमा है बानर के गुदा से उस अक्षी में नहीं दिया आंख में नहीं दिया उपमा किसने दिया कमल में दिया और कमल से दिया इसमें एक उपमा करने के बाद दूसरी उपमा दिया उपमित उपमा है इसलिए हीन उपमा नहीं है ये ये कमल के उपमा दिया यहां तो हाँ। कमल के लिए दिया था बानर के गुदा का उपमा और कमल की उपमा है पुरुष के हाथ में ये उपमित उपमा है दो बार उपमा दिया गया इसको उपमित उपमा कहते हैं उपमित उपमान न हीनोपमा हीन उपमा नहीं है यह तस् एवं गुण विशेष ऐसा जो पुरुष है इस प्रकार में गुण है ऐसा लाल लाल आंख वाला है ऐसा गुण विशिष्ट पुरुष का गौणम इदम नाम उदिति उसका नाम है तो नाम रहित है वो परमात्मा नाम रहित है किंतु फिर भी ये गौण नाम है क्या नाम है उत नाम उत कहते हैं उसको ये गौण नाम है मुख्य तो नाम नहीं नाम रूप से रहित है वो किंतु गौण नाम है उत उत नाम होता है उत इति ऐसा कहा तस्य उद इति नाम ऐसा मंत्र था उसी का अर्थ है प्रथम गौणत्म वो नाम को गौण क्यों कहा कहते हैं स एस देव सर्वेभ्य पापमभ्य पापमा सह तत्कार्येभ्य इत्यर्थ उदित है यही है वो देव है आदित्य मंडलस्थ जो देव है वो देव सभी पापों से उठा हुआ है केवल पाप मात्र नहीं कार्य के सहित पाप का कार्य जो दुख होता है पाप से भी निवृत्त है दुख से भी निवृत्त है वहां दुख नहीं होता जीवों में होता है सारा यह पाप भी जीव में होता है पाप का फल भी जीव जीव भोगता है वहां फल भी नहीं है ये कहा सएस देव सर्वे पे पाप मध्य सारे पाप से पापना सह तत्कार्य माने पाप के सहित उसके कार्य के सहित उठा हुआ है उसमें न पाप है न उसका कार्य है दुख भी नहीं है ऐसा वो देव है यह आत्मा अपहत पापमा इत्यादि थी आगे अष्टम अध्याय में कहेंगे ब्रह्मा जी घोषणा करेंगे देवता की सब देवता और दानवों की सभा में यह आत्मा अपत पात्मा बिगरो बिगरो विमृत्यु विधिगत अपिपाश सत्य काम सत्य संकल्प स्व अन्वेष्टव्य स्व विधिगात्य इत्यादि कहेंगे फल भी बताएंगे सर्वान लोकान आत्मोति इत्यादि फल भी बताएंगे अष्टम अध्याय में कहा यह आत्मा अपतप आत्मा इत्यादि बक्षती टिप्पणी दिया बक्षती में टिप्पणी दिया टिप्पणी गलत हो गई है टिप्पणी दिया है आठ एक पांच दिया है उसमें सुधारा क्या क्या लिखा या यह आठ सात एक में है वो टिप्पणी गलत है सुधारा नहीं है अष्टम अध्याय के सप्तम खंड के प्रथम मंत्र में यह आत्मा और पात्मा ये जो आठ एक पांच में जो मिला ये यशो अक्षणी पुरुषो दृश्य इत्यादि आएगा ऐसा आत्मी जो बात ऐसा आएगा आठ सात एक ऐसा है अष्टमध्याय के सप्तम खंड के प्रथम मंत्र में आएगा या आत्मा अपद आत्मा इत्यादि अष्टम अध्याय में आएगा टिप्पणी गलत पड़ी हुई है अंक गलत है तो या आत्मा अपत पापमा इत्यादि बक्षती या आत्मा अपत पाप रहित आगे कहेगी श्रुति इसलिए अपत पापमा है पाप रहित है ये सिद्ध होता है कहा उदित इति उसका नाम उदित उठा हुआ है क्यों उत इतर उदगत इत्यर्थ उत आगे इतर उदित उत उपसर्ग है इणगत धातु से निष्ठा करेंगे ईता होता गत उदगत ऊपर उठा हुआ है सारे पापों से उठा है वो अतो असौ उन्नामा सबसे ऊपर उठा हुआ है पापों से ऊपर उठा है पाप के कार्य से भी ऊपर उठा है दुख से भी इसलिए उसका नाम उत नाम पड़ा हुआ है गौण नाम है कार्य को लेकर के नाम प्राप्त किया असल माने परमात्मा उन्नामा हो गया आदित्य मंडल गुरु उत्नाम वाला हो गया पाप और पाप कार्य से उठा हुआ है इसलिए उसका नाम उदित है उठा हुआ है इसलिए उसका नाम पड़ा उत् कहा तम एवं गुण संपन्नम उन्नामानम जो उत्नाम वाला परमात्मा है ऐसा गुण वाला है परमात्मा उसका यथोक्तेन प्रकार जैसे प्रकार बता दिया हिरण्य मसरू हिरण्य के सहित आदि हिरणमय आप्रणगात सर्वेव सुवर्ण इत्यादि जो प्रकार बता दिया है इस प्रकार से जो चिंतन करता है ये वेद उपासना करता है वेद माने उपासक है उपासक सोपी एवं एवं उदयती वो भी इसी प्रकार उठ जाता है पापों से पापों के कार्य से ऊपर हो जाता है उपासक में उदगछति सर्वे पे पाप मंत्र सारे पापों से ऊपर हो जाता है हई इति अवधारणार्थ हो हई जो उदयती हई में हई ये जो निपात है अव्यय है ये अवधारण निश्चित के लिए है अवश्य उठेगा वो निपात हो उदयती एवं इत्यर्थ हवय का अर्थ एवं उठेगा ही ये अर्थ आएगा ये बता दिया ठीक है ऐसे कहते हैं विशेषम एवं प्रश्न पूर्वक विशेष विशेष क्या है उस पुरुष का सारे सुवर्णमय है किंतु विशेष आंख लाल है उसके ये विशेष है ये विशेष को ही पूछता है प्रश्न पूर्वक विस्तार करते हैं कथम कह दिया तस्य एवं सर्वतः सुवर्णमय से अक्षरों भी विषय अठरो विशेष और आंख में विशेष है कहा क्या विशेष है प्रश्न आया तो उत्तर देते हैं तस्य यथा कपेर मरकट से आशा कप्याशा इत्यादि कहा टीका में कहते हैं यथा कप्याशा बद व्यवस्थितम पुंडरीकम जैसे कप्यास जैसे लाल में व्यवस्थित है वो रक्त रंग वर्ण का होता है उसी प्रकार पुण्डरिक लाल होता है कमल लाल होता है पुंडरीक तथा तस्य अक्षण उसी प्रकार उसकी आंख है माने कप्यास के समान आंख नहीं है कप्यास के समान है पुंडरिक पुंडरिक के समान उसके आंख है ऐसा अर्थ करना इसलिए हीन उपमा नहीं तो, तो कप्यास का उपमा देते तो हीन हो जाता किंतु पुंडरिक का उपमा है इति योजना आशा शब्द निष्पत्ति प्रकार सूचित आशा कैसे बना होगा माने आस्ते अनेना इति आशा ऐसा होगा जिसके द्वारा बैठता है उसको कहेंगे आशा किसके द्वारा बैठा जाएगा बानर को कहां से बैठेंगे बना माने पृष्ठ के अंतिम भाग से बैठता है उसी का नाम आशा है ये अर्थ किया कारण में गाय है हाँ। आस्ते भी आसन माने कर्णाधिकरण से सूत्र के अधिकार में अलस्त सूत्र से गाय प्रत्यय हुआ है कर्णार्थ में अधिकरण अर्थ में नहीं हम्म। राम शब्द जो बनता है वही अलस्त सूत्र से गाय होता है अधिकरण अर्थ में होता है रमनते योगिनो अश्विन इति रामा योगी जन जिसमें रमण करते हैं खेलते हैं उसको राम कहते हैं वो राम होता है माने ब्रह्मविद्ता लोग जिसमें खेलते हैं किसमें आत्मा में वही राम होता है मुख्य राम वही होता है रमनते योगिनो अश्विन इति राम वहां रम रम रम धातु से गाय हुआ है आलस्य सूत्र से हुआ किस अर्थ में अधिकरण अर्थ में जिसमें खेला जाता है खेलते हैं उसको राम कहते हैं वहां गाय प्रत्यय हुआ है आलस्य सूत्र से वो अधिकरण अर्थ में है किंतु आशा बनाने के लिए करण में हुआ है जिसके द्वारा बैठा जाता है उसको आशा कहा जाता है ऐसा कहा घयंत शब्द से विवक्षित अर्थम करते जो घयंत शब्द है आशा शब्द आश उपवेश ने धातु से घय करके आशा बनाया हुआ है तो ये उसके विवक्षित अर्थ कथन करते हैं कपि पृष्ठांतो एन उपविशति का कपि का पृष्ठ के अंत भाग है अंतिम भाग है जिससे बैठता है बानर उसी का नाम आशा है सत्यासन तस्य कर्णत्व फुटाई दी वो कर्ण अर्थ में गाय प्रत्यय दिखाते हैं ये न उपविशति का जिसके द्वारा बैठता है उसी को तो आशा बोलना है कपि टीका में क्या पाठ है कपि स या कुछ पाठ कुछ पाठ छूटा हुआ लगता है यहाँ होना चाहिए कभी ये न उपविशति स कभी पृष्ठांत ऐसा ये न उपविशति होना चाहिए पाठ में ये न उपविशति स कभी पृष्ठांत माने बानर जिससे बैठता हो उसको कभी का पृष्ठांत कहा जाता है ऐसा होना चाहिए पाठ इति शेष ऐसा नहीं तो पाठ लगेगा नहीं कपि ये न उपविशति स कपि पृष्ठांत ऐसा हो तो पाठ लग जाता है कपि बानर जिसे बैठता है वो कपि पृष्ठांत है ये कप्यास वही होता है ये अर्थ हो जाता है पदार्थम उक्त वाक्यार्थम आह कहते हैं ये तो एक एक शब्दावली का अर्थ हो गया आगे वाक्य अर्थ कहते हैं <clears throat> कि कप्यास इव पुंडरीकम ये वाक्य अर्थ देते हैं बानर के गुदा के समान तो कमल है हम्म। और अत्यंत तेजस्वी मुंडरिक अत्यंत प्रकाश में है एवं अश्य देव से अक्ष इसी प्रकार इस देवता के आंखें लाल हैं कमल के समान लाल है माने कप्यास के समान तो लाल हो गया कमल और उस कमल के समान देवता के आंख है ठीक है निहीन उपमया देवस्य चक्षुषी व्यपतिशता तयोरपी निहीनत्व व्यपदिष्टम सियादी आशंका कहते हैं निहीन उपमा हीन उपमा दिया गया बानर के गुदा के उपमा दी गई देवता के आंख के लिए तो ये तो अच्छा नहीं हुआ ना इतने बड़े देवता के आंख के लिए बानर की गुदा दे देना उपमा देना ठीक नहीं पूर्वादी कहता है निहीन उपमा निहीन उपाय हीन उपमा नेतराम हीना निहीना अत्यंत हीन उपमा के द्वारा देवस्य उस देवता की चक्षुषी व्यपदेश वो आंख के विषय में व्यपदेश करने से तयोर अभी हीनत्व वो आंख भी तो हीन ही होगा जैसे उपमा दिया गया जैसे बानर का गुदा है उसी प्रकार ये भी ऐसे ही होगा हीन होंगे आंख अच्छे नहीं होंगे ये व्यपदिष्टम से आता ऐसे उपदेश होगा ये शंका आगे तो कहा नहीं नहीं ये केवल बानर के यहां से उपमा नहीं दी गई उपमित उपमा है बानर के गुदा की उपमा दी गई कमल में और कमल की उपमा है देवता के आंख में हीन उपमा नहीं है ये ये कहा इसलिए कहा उपमित उपमान ना हीन उपमा ये हीन उपमा नहीं है यहां तो कमल की उपमा है देवता के आंख में तो बांगर की गुदा जैसा रक्त कमल है उस रक्त कमल के समान आर्थ है यह आता है कप्यासेन उपमितम पुंडरिकम कपि के जो आशय गुदा है उसके द्वारा देवता के आंख उपमित नहीं है कि क्या है वो कमल है पुंडरिक है पुंडरिक माने कमल न उपमितम पुंडरिकम कप्यास के द्वारा उपमित है पुंडरिक कमल तेरह उपमान है ना उस कमल के उपमान के द्वारा उपमित शिशु आंख में तो कमल की उपमान है चक्षुषो न निहीन उपमान प्रयुक्तम निहीनत्व इसलिए निहीन उपमा के द्वारा प्रेरित हुआ निहीनत्व हीनत्व नहीं आएगा देवता के हाथ में यथोक्त से आदित्य पुरुष से के तो संकाम व्यावर्तित्व नाम व्यदशी वो जो आदित्य मंडल से पुरुष को जीव होगा कोई शंका करे जैसे कहा वो जीव होगा कोई ये शंका यथोक्त से आदित्य पुरुष से जिसके नाम ये आंख लाल लाल है बाकी शरीर ज्योतिर्मय है सुवर्णमय है कोई जीव होगा वहां ये शंका होगी यथोक्त से आदित्य पुरुष से क्षेत्र के तो शंका क्षेत्र के मैंने जीव शंका इसकी व्यावृत्ति के लिए नाम का व्यवदेश करते हैं अरे नाम क्या है उत नाम है उसका वो उठा हुआ है पापों से जीव तो पाप में डूबा हुआ होता है निष्पाप नहीं होता वो उत्नाम है उठा पापों से उठा हुआ है वो जीव नहीं परमात्मा है ये कहना चाहते हैं उतनाम से सिद्ध होता है परमात्मा है इसलिए नाम का कथन कर दिया तस्य इत्यादि कहा तस् एवं गुण विशिष्ट से गौणम इधम नाम उचित गौण नाम है उत नाम टीका में कहते हैं नामनो गौणोत्तम शंका द्वारा व्यवहारे भी परमात्मा का जो नाम है मुख्य नाम तो है ही नहीं परमात्मा में नाम रूप नहीं है किंतु गौण नाम होता है विष्णु शास्त्र नाम में भी कहा यानी नामानी गौणानी विख्यातानी महात्मा ऋषि भी तानी बक्ष्यामी ये कहे ये कहा हुआ है परमात्मा के नाम तो नहीं है किंतु ऋषियों ने ऐसे गौण नाम का प्रयोग किया है मैं भी उसी का कथन करूंगा यानी नामनी गौणानी विख्यातानी ऋषि भी परिगीतानी ऋषियों ने काम किया है इन गौण नाम का तो मैं भी वही बताऊंगा विष्णु पिता में यही बोलते हैं तो ऐसे ही है गौण नाम है परमात्मा का नाम होता नहीं नाम रूप से रहित है वो मुख्यतः किंतु जो भी नाम दिया जाता है गौण नाम ये भी गौण नाम है कहा कथम इत्यादि तस्य सर्व पापमोदय तत्कार्य भागवा इतिहास न तस्य सर्व पापोदय सारे पाप से उठा हुआ नहीं है क्यों उसके कार्य उसमें है दुख दुखी है वो ऐसा कोई शंका करे ये शंका है न तस्य सर्व पाप में उदय है सारे पाप से उठा हुआ नहीं है वो आदित्य मंडल को क्यों तस्य तत्कार्य भाग तो पाप का कार्य भागी है भागीदार बना हुआ है दुख दुखी है वो दुख भोग रहा है ये शंका आ गई तो कहा नहीं नहीं पाप मना सह तत्कार्य सारे पापों से निकला है उसके कार्य सहित पापों से निवृत्त है वो इसलिए उतना है सबसे ऊपर उठा हुआ है पाप भी नहीं है पाप का कार्य भी नहीं है ऐसा बता दिया आदित्य क्षेत्र के भी सर्व पापोदय संभव <clears throat> न हवई देवान पापों का क्षति आशंका शंका करते हैं कि देखो आदित्य मंडलस्थ पुरुष की बात है जीव होने पर भी पाप से उठ जाएगा उसको जीव लेने पर भी होगा परमात्मा अर्थ लेने की आवश्यकता नहीं पूर्वादि कहता है आदित्य क्षेत्रज्ञ भी आदित्य मंडल पुरुष को क्षेत्रज्ञ मानने पर भी जीव मानने पर भी क्यों वो देवता है जीव होने पर भी तो मनुष्य जीव नहीं देव कोटि का जीव है वो तो इसलिए सर्व पापोदय समय सारे पाप से उठना संभव हो जाए क्यों न हवई देवान पापम क्षति देवताओं की तरफ पाप नहीं जाते मनुष्यों को होते पाप तो ऐसा कहा हुआ है तो आदित्य मंडल पुरुष को जीव लेने पर भी वो देवता है पाप नहीं रहेगा सभी पापों से उठ जाएगा ये शंका आ गई तो कहते हैं परमात्मा विषय वाक्य से उदाहरण दिए आगे परमात्मा को विषय करने वाले वाक्य शेष है वहां <clears throat> ऐसा देते हैं क्या वाक्य देते हैं यह आत्मा अवत पात्मा अष्टम अध्याय में जाने के बाद यह जो आदित्य मंडल से पूर्व चर्चा है उसी को वहां बताएंगे या आत्मा अवत पात्मा विजरो विमृत्यु विशोको बीजगत है हाँ, हाँ, इत्यादि विधिगत से सत्य काम सत्य संकल्प ऐसा उसका विशेषण देंगे अष्टम अध्याय में तो उसके लिए ये कहा हुआ है जीव नहीं है परमात्मा ही है ऐसे बताएंगे वहां ये कहा उक्तार्थ योग अत शब्दार्थ अतः शब्द का अर्थ सारे की बात को प्रयोग करने के लिए है कहा जो कहे हुए बात, बातों को जोड़ने के लिए अत दिया उपास्यम ने उपनिष्य तद उपासना निदान सफलम उपस्थिति उपास्य जो परमात्मा है उसको रख करके उसकी उपासना कर इस समय फल बताते हैं तम एवं गुणम इत्यादि का तम एवं गुण संपन्नम उन नामानम यथोक्तन प्रकार में देगा जो एक प्रकार का गुण वाला है हिरण्य मस्तवादी आदि गुण वाला और उत नाम वाला जो परमात्मा है उसको जो उपासना करता है सो भी एवं उदयती उदगछति सर्वे प्राप्ति वो भी सारे पापों से उत्तर होता है एक अर्थ बता दिया अच्छा यथोक्तन प्रकार उन्नामानम संबंध जिस यथोक्त प्रकार जिस प्रकार से कहा गया उस परमात्मा को उन नाम वाले को जो उपासना करता है वो भी वैसे ही सब भी पापों से उड़ जाता है फल होगा बता दिया समय हो गया है ओम रखना पड़ता है सर्वाणी सर्व ब्रह्मोपनिषद ब्रह्म मा ब्रह्म निराकरोत निराकरणमस्त्व निराकरणमेषु तदात्मनि निरते उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति